दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર सच्चिदानंद જય સચ્ચિદાનંદ कैसा क्लास रहा हाँ? बहुत अच्छा आपने परीक्षा ली अब तो पुत्रों की तो उन्होंने आपकी ली नहीं परीक्षा में आप बैठे थे क्लास में परीक्षा में कौन बैठा था हम और आपता पुत्र सिखाते थे अच्छा सर अच्छा, ठीक है हम तो सीखते हैं दादाजी हाँ वो तो भाई आप तो लाओ देखो आप आपका पूरा जो सभी है विस्तृत आपका कुटुंब परिवार सभी नाटा फैमिली का सातों भाइयों का उनके लिए हम ऐसा लगता है कि आज तारीख क्या हो गई आज बाईस है ना आपने बताया था मैंने तेईस और चौबीस मुझे समय चाहिए अपन चौबीस तारीख को आज वापस आ जाते हैं हाँ तो हम करीब मेरे ख्याल छः सात बजे तक आ जाएंगे हम्म? छः के सात के बीच में यहाँ आ जाएंगे तब रखेंगे जो निमे निमेश आनंद जी ने बताया ना कि सब यहाँ आपका रूम पर बुलाए थे उसकी जगह वहाँ रखेंगे शांति से मिल पाएंगे हम चलेगा सबको और आपको नाटा फैमिली के वाले को नहीं सभी हिंदी भाषी जो आहिस्ते आहिस्ते मिलेंगे नहीं चल सकता है चल सकता हाँ अब स्पेशल सभी के लिए हो, हो सकता है और अगर सात बजे आवे तो मंदरबा आठ बजे से थोड़ा सत्संग कर ले तो हरकत है आपको नहीं बाग को पूछते हाँ? अच्छा वो आरती है वो ठीक है ठीक है तो आरती तो पहली होनी चाहिए आरती तो होनी ही चाहिए अच्छा ठीक है और पीछे दूसरे दिन तो है ना मेरे पास पूरा दिन है पूरा दिन है हाँ नहीं तो आरती है आरती तो पहली वो तो पीछे आरती होनी चाहिए अगर पीछे थोड़ा नहीं नहीं ऐसा करने तो कोई हरकत नहीं आरती का टाइम वही होता है हम्म, सात आठ साढ़े सात कोई बात नहीं करेंगे हो जाएंगे सत्संग नवीन आनंद जी सत्संग हमारे दिल में हमेशा कायम का रहना चाहिए क्यों कि हमने सत पाया है ना सत पाया है ना इसीलिए जो वो पुष्पा बहन ने पूछा आ गई है कि नहीं तो वो जो व्यवहार हमें बताया तो हमारी एक नंबर की फाइल उसके साथ है ना सद पाया है हमने और इसी ढंग से तो जी रहे हैं हम हम्म? इसीलिए वो फाइल भी उनके साथ है तो संग तो होता ही रहता है सत का और अंदर से तो चलता ही रहता है लेकिन एक दूसरे को समझने के लिए ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं तो बड़ा अच्छा सत्संग सबको मज़ा आता है एक दूसरे से लाभ मिलता है हुँ? हम्म? और ज्ञान प्रकाश दर्शन प्रकाश तो हर एक के अंदर है तो एक दूसरे को एक दूसरे का लाभ बहुत मिलता है कवि और समझ में और पुद्गल क्या चीज़ है वो हमें समझ में आता है क्या बताया हाँ पुद्गल वो शुद्धात्मा निश्चय है वो है है कि नहीं हाँ हाँ? ना बोलते हो तो क्या है वो व्यवहार उद्गल है इसीलिए तो व्यवहार दृष्टि की आज्ञा रख दी गई के लिए उद्गल की पहचान हो जावे हाँ, हाँ। तो ये पुष्पाबेन थी ने ये भी पुष्पाबेन है देखो ना बैठी है और उत्तम शाह कहाँ गए बैठे आज शांत क्यों है आप अच्छा तो ये रुचि का कौन है हाँ, तू है कहा से शुभ क्या बोलते बम्बई कहा की है गुजराती है कि हिंदी राजस्थानी बम्बई में कैसी आ गई राजस्थान वाले तो वहाँ रहते हैं राजस्थान में नहीं नहीं मतलब जोर से बोलना मैं जन्म से ही बॉम्बे में हूँ मेरा जन्म, से बॉम्बे हुआ है तो राजस्थान छोड़ दिया सिर्फ साल में एक <laughs> बार अच्छा, अच्छा थोड़े अच्छा। दिनों के लिए जाते हैं तो आपने पूछा है मोक्ष में जाने के बाद जीव वापस धरती पर जन्म लेता है या नहीं और लेता है तो क्यों मोक्ष में जाने के बाद वापस वापसी है ही नहीं वहाँ से वो हमेरा पूरा ख़त्म हो जाता है और पीछे कायम के वहाँ रहते हैं लेकिन कैसे रहा जाए तो कि बिना सुख तो कैसा रह जाएगा इसीलिए जो हमेरा सुख स्वभाव है शुद्धात्मा का वो अनंत सुख से वो रहता है पीछे सभी गुण साथ में है यहाँ थे शरीर के साथ और व्यवहार में तभी भी ये व्यवहार के साथ हमारी शुद्धात्मा की दृष्टि से हमें देखने जानने में हम खुद हमारे देखने जानने में आते थे सही ढंग से पूरा शरीर पुद्गल का बना है वो सारी समझ में आ जाता था और मोक्ष किसको बोलते हैं कि जो पुद्गल है मानव शरीर स्वरूप उसमें उससे मुक्ति पाया हुआ अपना शुद्धात्मा पद प्राप्त किया हुआ है और शुद्धात्मा पद तो प्राप्ति की वो तो शुद्धात्मा हमेशा का मुक्त है लेकिन जो नाम क्या है तेरा रुचिका रुचिका जो है उसके साथ बंधे थे शुद्धात्मा तो बंधा ही नहीं कभी नहीं बंधता हम्म? लेकिन हमारी गलत मान्यताएँ बंधी गई थी वो गलत मान्य में रुचि आ गई उसको खाली होने के लिए जो आगे गलत मान्यता से शरीर बना था वो सब खाली हो जाएगा अभी वो आज्ञा धर्म आ गया तो जब पूरा खाली हो गया तो सुख पूरा खुला हो गया हुँ? हम्म? और केवल ज्ञान हो जाता है ना हाँ? केवल ज्ञान होता है खलास लेकिन फिर भी शरीर रहता है तो केवल ज्ञान होने के पश्चात भी शरीर जो रहता है उसका बाकी का चार कर्म रहा वो नाम कर्म है कि नहीं वो गोत्र कर्म है कि नहीं हुँ? हम्म? और वो अपना वेदना और आयु वो आखिर तक वो ही खलास हो जाते हैं सभी तो सिद्ध गति हो जाती सिद्ध आत्मा हो जाते हैं क्या बताया सिद्ध गति हो सिद्ध आत्मा सिद्ध आत्मा स्वरूप हो गया वो भी शुद्धात्मा ही है सभी शुद्धात्मा है लेकिन वो सिद्ध स्वरूप से हो गए तो यहाँ ये सिद्धि पा गई आपने कि हम परम ज्योति स्वरूप वैसे सिद्ध भगवान है वो बीज बीज था ना अभी खुला होता जाता है आज्ञा धर्म से जीना पड़ेगा आपको हाँ तो बहुत दिक्कत वाली बात है बस तो बैठ जाओ ज्ञान लेना बाकी है हाँ। तो उसका नाम लिखा है रुचिका नहीं रुचिका नाम है तो तुम बैठ जाना को ये साल पच्चीस अभी, हाँ? अभी ये पच्चीस को जाना है हाँ, ये नहीं जाना नहीं है ये पच्चीस को मेरा तो नाम है लिखे आपका लिस्ट में है नहीं लिस्ट में नहीं लिखा है तो ના પડે રાખજો ને મુંબઈ થઈ रखो धन्यवाद दादाजी हाँ बैठ जाना हाँ, अभी जो संख्या हो गई है फिर भी बैठ जाना एक दो हाँ। धन्यवाद हाँ कोई बात नहीं ये तेरी पुण्य है तो ऐसा हो गया ये जोधपुर से सुराना साहब नरेंद्र सिंह कहाँ है हाँ, हाँ हाँ तो आ जाओ थोड़ा यहाँ आगे बैठ जाओ इसे बात करें आपसे बैठ जाओ ना ऐसे बैठिए बैठ जाइए बस बस बैठो बस बस बस बस कोई बात नहीं आगे बैठो नीचे हम्म ये गर्म है थोड़ा ज़्यादा कि ठंडा है गुजराती में लिखते हो जोधपुर वाले नहीं साहब मैंने लिखवाया है लिखवाया किसने लिख के दिया ये दूसरों से ही लिखवाया है अच्छा कोई बात नहीं मुझे आपका आशीर्वाद लेना है कोई प्रश्न नहीं करना हमें और इसीलिए समय हमें दे ठीक है तो आप कितने दिन यहाँ ठहरे हैं पूरा साहब पूरा रविवार तक तो જ્ઞાન લીધું નથી નહીં ઈચ્છા છે એને કહેજો વાંધો નહીં કરાવી દેજો ને તમે हाँ? बिहारी आनंद जी दीपक आनंद जी बात करना आप हाँ? करवा देंगे मेरा दर्शन नहीं आपको मायूर भगवान का दर्शन करवा देंगे हाँ? हम्म। समझे ऋषभ दादा के सबके दर्शन हो जाएंगे पीछे क्या चाहिए आपको और आपके अंदर ही हो जाएंगे ठीक है ना हम्म, जाओ तो क्या और क्या है बोलो ताराचंद ताराचंद जी कहाँ गए आराम में है माता जी कुर्सी पर बैठो कुर्सी पर ही बैठना बैठो अब पवन कुमार पवन कुमार नहीं आए माता जी हे माता जी कहाँ बैठी है पवन कुमार कहाँ गया अलवर है कोई बात नहीं धंधा चलाता है ना तो कोई बात नहीं लेकिन सबका ख्याल रखता है कि नहीं पवन कुमार रखता है ख्याल सबका ताराचंद जी अच्छा अच्छा ठीक है अलवर में तो हम ही तो है आप तब तो पुत्र आता क्या ये हम नहीं है ये माता जी जो है वो आप नहीं है वो तो माता जी आ, आप ही है कि वो अलग है वो अलग है या आप है क्या विनती है आपकी विनती बहुत भारी होती है अलवर में आपकी बहुत बड़ी कृपा बरसी है उद्घाटन हुआ था चौदह अप्रैल को हाँ। एक साल होने जा रहा है हम उसकी साल बरसी मनाना चाहते हैं तो आप तो पुत्र पहुंचने चाहिए सभी आप से निवेदन करेंगे चौदह पंद्रह अप्रैल को जो है प्रोग्राम जरूर हर साल मनता रहे ये भावना है चौदह पंद्रह हाँ તો કયો કયો દિવસ આવે છે सभी महात्मा बहुत દિવસ કયો આવે છે ऐसा की भी है दादाजी दादाजी संजोग देख के बताएंगे उनको उनको संजोग देख के बताएंगे क्या संजोग देख के बताएंगे उनको कौन हम बताएंगे क्या कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं चौदह तारीख की बैठक और श्रीमंतर भगवान का जन्म कल्याण दिवस भी है बहुत शुभ दिन है तो आपको संजोग देख के बताएंगे हाँ? अच्छा। कैसे प्रोग्राम करना ठीक है ठीक है ठीक है ये काल हमारा तो ताराचंद अमर देखो जी सुनिए हमारे सभी में से काल किसके हाथ में है है किसी के हाथ में काल फिर भी भाव है तो भाव व्यक्त किया अपना अभी देखें काल कैसा आता है ठीक है भाव है तो आएगा कुछ लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा ही आवे ऐसा आवे उसमें थोड़ा आपको बोल देना पीछे देखते रहना बस खत्म हो गई जाओ सच्चिदानंद ओ मैं अभी मैं रविवार तक हूँ शांति रखो हाँ शांति होगी ना मिलेंगे ना हाँ मैंने बताया ना पच्चीस तारीख पच्चीस छब्बीस सत्यावीस समझे ना तो शांति से मिले शांति से गाय में मत हाँ उतावला नहीं तो कौन आ और क्या पच्चा हाँ खूब बैसी आइए मुनि जी हमारा पधारो जय सच्चिदानंद ये परम विनय है ये संयम होने के पश्चात ऐसे समर्थ आचार्य है फिर भी वो आचार्य की परवानगी से से इसमें तो हो सकता नहीं है कौन है कितना आनंद है एक तो संयम है हुँ? हम्म, वो संयम और नियम पूछा था ना किसने सुबह समझे बिना नियम संयम नहीं होता हुँ? हम्म? और यम जो है यम यम नियम संयम आप की यो हुँ? हम्म? और ये सब करने से हमें किया उसके कारण हमें अथाग परिश्रम हुआ और कहीं कहीं से उसके माध्यम से हमें हमेरी आत्मा को पहुंचने की कहीं कोशिश की कहीं कहीं शरीर थक गया शरीर खलास हो गया सब हाल हड्डी और चमड़ी रह गई ऐसा हुए फिर भी हाथ में कुछ नहीं माया सर बहन पीछे सोचता भी नहीं तू कि साधन से क्या बाकी रहा इतनी साधन की क्रिया की तूने यम नियम संयम आप कियो हमें की खुद ने तो हाथ में कुछ आपको मिला नहीं कुछ खाली हाथ रहा तो इसीलिए सोच तू सोच कैसा पाया जा सकता है जैसा महावीर भगवान ने उनके समय उनके साथ जो साधु व संयम पर्यायी थे सभी लोग गणधर देव के साथ सभी को बोध देते रहे तो एक दृष्टांत देते थे दृष्टांत उदाहरण वो पुंडरीकिनी नाम का सरोवर बड़ा था उसका दृष्टांत उसको बड़े अच्छी ढंग से देते थे सभी साधुओं को संयमदारियों को और सत्संग भी कभी जब देशना होती थी कभी कभी दिया है लेकिन एक खास करके देते थे वो क्या उदाहरण क्या है तो कितना बड़ा सरोवर है कितना पानी है अंदर और जहाँ पानी है वहाँ कादव को क्या बोले कीचड़ तो है ही कीचड़ पानी से भरा हुआ बड़ा सरोवर और उसके अंदर इतने श्वेत अच्छे अच्छे प्रकार के कमल खिले हैं हम्म? ये उपमा है उपमा है उसको उदाहरण है बड़ी अच्छी उपमा है और सारा वो भरा हुआ है समर पानी के भाग में उसके सभी के बंद से केंद्र में सबसे बड़ा ईसाई श्वेत कमल है आप जानते हैं सब शास्त्र में है सब कुछ तो <laughs> तो ऐसा आता है पूर्व दिशा से ये भारतवासियों की पूर्व दिशा बहुत पवित्र है <laughs> हाँ उत्तर उत्तर पवित्र तो है महाविद्य क्षेत्र पूर्व उत्तर में है हाँ, वो तो ठीक है लेकिन ऐसे समझ ऐसे कल्पना से नहीं समझा जाएगा वो हुँ? हम्म? बाकी सब ये सारा पुद्गल सागर का महासागर का केंद्र ये है यहाँ हम्म। समझे ना हाँ। वो सरोवर में दृष्टान देते थे आता है वो मैं तो इतनी शास्त्र का जानकर वगैरह वगैरह तो जाता है वो अभी मैं लेके आता हूँ तो जाते जाते खलास हो जाता है जैसा कीचड़ में पानी में थोड़ा अगर कीचड़ आ गया तो कीचड़ में जाते जाते तो खस ऐसा दक्षिण वाले का हुआ पश्चिम वाले का हुआ पूर्व वाले का हुआ चार दिशाओं का केंद्र में नहीं जा पाए केंद्र में नहीं जा पाए <laughs> समझे हाँ, हाँ तो शास्त्र के शब्द तो बड़े अच्छे हैं तो एक ऐसे ही करके एक वाइज पुरुष आता है जीवन की कहीं कठिनाइयों से निकलने का अनुभव लेके लेके आता है और विजडम वाला अच्छा है वो आता है देखता है अरे सब देख लिया ये यहाँ गए आ गए सब खूब गए हैं अंदर और जाने प्रयत्न तो है कि वहाँ जाना है तो वो उसको सही रीत मालूम नहीं उसको जाने की क्या बताया सही रीत उनको मालूम नहीं इसलिए अपनी मानी हुई रीत से जाते जाते ये फंस गए हैं हम्म। इसीलिए जो साधु है संयमधारी है उसके लिए ये पाने के लिए मार्ग तो अलग ही है वो तो जैसे वाइस पुरुष है दया न गई है शाणा नहीं शाणा तो अच्छा शब्द नहीं शाना श्याना श्याना बोलते हैं ना पुष्पा सयाना सयाना पुरुष सयाना पुरुष होना बहुत मुश्किल है और ये कलयुग में पंचम काल में हमें जो ज्ञान मिला है और आज्ञा धर्म में हमें है अभी हमारा जीवन तो क्या શું કહે છે सयाना <laughs> पुरुष मिल जाता है तो ऑटोमेटिक वो भी सयाना हो जाता है आह, वो तो उसका सयानापन अपने में वो प्रस्तापित होता है इसीलिए तो हमारे सयानापन आस्ते आहिस्ते खुलता जाता है सहनापन वो किसी का पक्ष लेता नहीं कभी वो पक्ष में पड़े हुए देखे उन्होंने तो वो क्या बोला नहीं ये तो उसका नहीं उसका राज कुछ अच्छा अच्छा अलग ही है उसका यही है कि हमें उसको साथ देना है हे श्रेष्ठ कमल सर्व सभी श्रेष्ठ कमलों में से परम श्रेष्ठ कमल तू मेरे पास आ जा तो वो कमल उठ के उसके पास आ जाता है ये तो ऐसी समझ में नहीं आएगी लेकिन हमारे आज्ञा धर्म में यही है मकसद आज्ञा धर्म का मकसद यही है प्राप्त प्राप्त हुआ है लेकिन प्राप्ति हमारे अनुभव प्रमाण से कर लेनी है हमें इसीलिए ये इसी है उपमा हाँ, हाँ। उसमें ये पुद्गल और आत्मा का शुद्ध स्वरूप दोनों के उसका एक उपमा से ऐसा जुड़ा गया है भगवान उसके समय तो थोड़ी बात करते तो समझ जाते थे आज का समय ऐसा है कि इतना जल्दी समझ में आने में कहीं टाइम लगता है आहिस्ता आहिस्ता आ जाता है जरूर आता है आपको तो बड़ा अच्छा है अरे क्या शुभ गान आपका नाम क्या शुभ नाम कन्हैयालाल अच्छा निर्देशक लघुतम पाओ सलवर के महात्मा बाईस मार्च हो गई का लेते हैं हाँ चलो એ તો અમને વિનંતી છે તો એ ये मधुर नाका कौन है आप दादाजी के अच्छा दादाजी आग्रह हटाग्रह और मान मधु में बहुत है मधु कौन है अब पहचानती है उनको अब पहचानती है अच्छा ठीक है तो आपको मालूम पड़ता है कि मधु में सब बहुत है ना ठीक है दादाजी इसके लिए क्या करे तो मुझे पूछो उसके लिए आपके अंदर के शुद्धात्मा भगवान है ना वो प्रज्ञा उनको पूछो कि हे प्रगट शुद्धात्मा भगवान मधु के अंदर के अभी मधु क्या करे तो उससे बोध मिल जाएगा आपको प्रज्ञा पूरा बोध देती है लेकिन चेतावनी दे देती है और कुछ नहीं करती समझ में आया ना वो है लेकिन ये तेरा नहीं है अभी वो तो खाली हो रहा हुआ माल है और कुछ नहीं है जो खाली हो रहा है उसमें हमें दिक्कत क्या होनी है तो प्रश्न तो आता आएगा और होता है हरकत नहीं है मधु धीर कर ये तेरी खाली दुकान हो रही है तेरी हाँ तो प्रज्ञा देवी से तरफ से हमें ये चेतन हमेरा अंदर से भी हमारा बोध हमको खुद मिलेगा समझे इसीलिए हम ये खुद से हम खुद बोध पाए हुए ऐसे आहिस्ते आहिस्ते समझ में आते जाएंगे समझ में आया हम्म। ये, शक्य नहीं है खुद से खुद बोध पावे हुँ? हम्म? बिना वो बोध बीज और वो बीज से सारा पौधा हो के विकास होता जाता है तब वहाँ तक नहीं होता ये सब समझ में आया हम्म यह कृपा करो दादाजी ये कषाय खत्म हो जाए उसको डिस्चार्ज कषाय बोलते हैं तो तो खत्म हो ही रहे हैं लेकिन हमें ये देखना है कि मधु में ये कषाय सब है उसका दुकान का माल वो खाली हो रहा है तो कोई हरकत नहीं होने दो हमें ज़रा अच्छा तो नहीं लगता उनसे फिर भी दिल में हमारा शुद्धात्मा पद से रह के उसको वो असर होने दो अवस्था हो जो आवे हो उसको वो आसान ऐसी आसान से नहीं चली जाएगी आपको दुख देके जाएगी लेकिन उसको सहन करो कि मुझसे दुख पाया हुआ ये पुद्गल अभी इस ढंग से निकलता रहता है हा? तो आनंद से उसको देखते रहो क्या सचित आनंद शुद्ध आत्मा प्रज्ञा के प्रकाश से हमें उसको देखते रहे बस तप है उसको वो दिल अंदर का तप बोलते हैं दिल के अंदर समझ में आया तो अच्छा रहेगा लेकिन वो एकदम तो नहीं आएगा आहिस्ते आहिस्ते उसका प्रैक्टिस करो खूब प्रैक्टिस करो हाँ? और तप में त्रुटि आ जाए तो फिर से खड़े हो जाओ फिर से चलो कहीं दफे गिर जाएंगे खड़े होंगे होना ही होना समझे कि नहीं शरीर को कुछ नहीं होता उसमें हुँ? तब किसको बोलते हैं कि शरीर को किसी किस बिल्कुल कष्ट नहीं होता हमें खाली आभास होता है कि शरीर को कष्ट आता है इतना बस और कुछ नहीं होता और हमें कुछ नहीं होता लेकिन अगर हम सही उसको देखते रहे तो शुद्धात्मा भाव से समझे ना देखना वो दर्शन शक्ति का काम है शुद्धात्मा की असल हुँ? हम्म? तो उससे देखते रहने का हमें यही उपाय एक है और देखने में कच्चापन हो जावे तो माफ माफ़ी मांग लेना प्रतिक्रमण करना गलती की माफ़ी मांगना क्षमा मांगना और हमें शक्ति दो ये प्रकट शुद्धात्मा भगवान मुझे मधु को शक्ति दो कि जिसके कारण ऐसी परिस्थिति उस नहीं आवे समझे और वो आहिस्ते आहिस्ते स्थिर होती जावे हुँ? हम्म? हुँ। हम्म। और मेरा देखने का स्वभाव और खुला होता जावे उसका आवरण हटते हटते समझ में आया पीछे ये क्या है रुक रुक रुक में जैन ले ले हाँ। वो कविता है आपकी एक प्रश्न है अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है आलोक ठीक है हाँ रज रकमी जैन क्या क्या नाम है क्या रजनी जैन अच्छा आप कहाँ से हैं चेन्नई ठीक है ठीक है कोई आपके पास है ब- हाँ, એમને કઈ એક પદ બોલવું છે કઈ ગીતિ मैं एक गीति का माना चाहता है प्रार्थना भजन गीति आ, आ, आ, करते लेते लेते जरूर जरूर हाँ एक मिनट थोड़ा समय इतना ले ले એ अलबर के महात्मा हमने आप ही गया थे नहीं अच्छा उसमें उनकी विन विनती है तो ज्ञानी पुरुष के चरणों में अलवर के सभी महात्माओं का दंडवत प्रणाम हम्म। अलवर में जो आपकी कृपा से अक्रम विज्ञान का स्वसंस्कार सनातन केंद्र का उद्घाटन 14 अप्रैल 15 को आपके कर कमल से हुआ उसकी यादगिरी सदा अमर रहे हर साल बरसी उत्सव बने तो बरसी उत्सव तो करना बड़ी अच्छी बात है ये तो सब आपने होता चंद जी ने लिखाया है सब वो कमाल उनकी है हाँ, बरसी करनी हमेशा हमें सभी को आपका पुत्रों को वड़ीलों को भी बोलाना और का हरकत नहीं है लेकिन सब सबके हिसाब से आ सकते हैं समझ आ, हाँ, कोई बात नहीं तो करना ही हाँ बरसी बहुत उसको मनाना दो दिन हाँ सबको बुलाना हम्म? सभी प्रबंध करना सुबह से शाम तक रात्रि का सारा दिन अखंड कीर्तन भक्ति होता रहे और स्वाध्याय उड़ता रहे ऐसी भावना को साकार के लिए आप हमें ऐसा उल्लास बने उनकी कृपा करो हम सदा आपके साथ है क्या नाम है उन सभी महात्माओं के तरफ से अलवर के सभी महात्माओं आप आहिस्ते आहिस्ते समझ में आते रहेगा बहुत आया इस समझ में कि हम हमेशा आपके साथ ही रहते हैं वहाँ साथ में रहना महीना हमारी शुद्धात्मा स्वभाव से ये शरीर में शरीर तो उसका मर्यादा वाला है वो मर्यादा के बाहर उसका काम नहीं हो सकता शरीर से लेकिन ये शुद्धात्मा शक्ति से बहुत कुछ काम हो सकता है हम इस शरीर में बैठे बैठे एक ही जगह रह के सभी जगह बाहर घूम सकते हैं वो सूक्ष्म तत्व का काम है सूक्ष्म तत्व का और इसीलिए आपको ये आहिस्ते आहिस्ते अनुभव में आएगा ही ये महाराज साहब है ये मुनि है यहाँ बैठे हैं आए हैं तो चंडीगढ़ से नहीं लेकिन आपके बिहार में थे ना कुप कुप कला बोले कुप कला में कुप कला में रहते हैं जहाँ हमारे आपतापुत्र साहेबों ने वहाँ सिमंदर स्वामी वगैरह प्रस्तावित हुए वहाँ वहाँ रहते हैं वो कहाँ है अभी कहाँ अच्छा तो आए कहाँ से लुधियाना से आए पंजाब से हाँ तो फिर भी आज आपका अनुभव है न अंदर से कि मैं लुधियाना तो था और आज भी हूँ यहाँ होते हुए भी ऐसा तो है कि नहीं आपका कि नहीं है बोलो ने है? हाँ? आपके समक्ष अभी आचार्य साहब है कि नहीं हुँ? हम्म? है ना अभी पर हमें तो किसी को दिखाई देते भाई समझे सूक्ष्मता से हम कहीं भी घूम सकते हैं वो हमारे अंदर का स्वाद अनुभव है शरीर में होते हुए भी हम बाहर सभी जगह घूमते रहते हैं जितना जितना शरीर से हमें छुटापन अलगावपन हमेरा बनता रहता है वैसा ये शरीर हमें बंधक नहीं बनता हमारे लिए क्यों कि हमारे अंदर विहार करने की शक्ति नहीं है क्या बताया वो विहार करने की शक्ति शरीर की है हमेरी नहीं है हम तो सदा विहारी है सदा विहारी क्यों कि हमारा स्वभाव विहार करने वाला नहीं है लेकिन निर्विहारी स्वभाव है हमेरा इसीलिए हम सब जगह घूम सकते हैं लेकिन ये शरीर की भाषा से हम ये समझ लेते हैं इसीलिए ऐसा लगता है थोड़ी द्विधा हो जाती है और कुछ नहीं अनुभव का प्रमाण जैसा जैसा आते आते आता जाता है हुँ? हम्म? हमारे अंदर शानपण अच्छी ढंग से बढ़ता जाता है तो ऐसा हो ही जाता है क्यों कि बाहर कहाँ भी हो एक प्रत्येक कोई भी महात्मा हो एक भी और उसका शरीर है शरीर का व्यवहार है वो व्यवहार बाहर जितना भी है वो सभी साथ वो व्यवहार एक घर में रह के एक जगह रह के कर सकता है शुद्धात्मा का प्रभाव है हम्म, अनंत शक्तियाँ हैं शुद्धात्मा की अनंत शक्तियाँ हैं समझ में आया तो अलवर में हम नहीं ऐसा क्यों लगा आपको ताराचंद आपके घर में ही है देखते नहीं हमें नहीं देखते हो आपको दिखाई देता है भाई बोलो बताओ मुझे दिखाई देता है <laughs> समझे ना लेकिन वो ये उसका ये नहीं है कि ये हम रमत करते हैं नहीं नहीं नहीं गंभीर बात है बहुत गंभीर बात है आप तो सिंह द्वार वाले हो क्या बात करते हो एक गजना निकालो तो सब पंजाब की बॉर्डर में चले जाएगी हाँ वो काम तो आपने हाथ में लिया है तो आपको पहुंचाना है सबको देखो ना मुनि महाराज आए लुधियाना से आ गए हैं माइक में बोलो माइक में ना बरोबर बरोबर वो रायचंद जी आए देखो ना कुल्लर जी साहब आए हैं सभी बोलो तो आपका सब बरोबर है अच्छा कौन बच्ची जिसने भजन का भक्ति का तैयार किया है कौन है हाँ? हम्म? हाँ तू उनको पहला बोलने दे आ जाओ जरूर जरूर हाँ इसके ऊपर बैठ जाओ जरूर हाँ, बस आने उसको आने दो बेबी बस क्या तेरा नाम है बच्ची मानसी नाटा मानसी अच्छा अच्छा चलो जय सच्चिदानंद जय देखो छोटी बच्ची का आवाज तो देखो जोर से चल जोर से बोल जय सच्चिदानंद अरे वाह जय सच्चिदानंद एक रुपया में चॉकलेट लायो चॉकलेट में शक्कर नहीं मारी पूरी फजती हुई दस रुपये में बॉल लायो बॉल में हवा नहीं मारी पूरी फजती हुई एक लाख में गाड़ी लायो गाड़ी में मोटर नहीं मारी पूरी फजती हुई दस लाख में लुगई लायो लुगई में लक्कन नहीं मारी पूरी फजती हुई मम्मी बोले शिविर जाओ शिविर में कुछ सीखियो नहीं मारी पूरी फजती हुई जय सच्चिदानंद पुष्पा बहन उसके अक्रम विज्ञान में ले लेना आप उनके पास से ले लेना लिख के देंगे ओ अपने तेरे गुरु जी पुष्पा बहन बैठे हैं ना ये उनको दे देना पुष्पा बहन हे अक्रम विज्ञान जो हिंदी है वासी ये जिम्मेदारी आपकी है आप बोले कि मैं सबको भिजवा दूँ इससे तो मेरा हम्म। काम क्या कहाँ कर सकता हूँ लेकिन तलाश करके पहुँचता कि नहीं इतना तो ख्याल करना हमें ज़रूर है हमें भारत सरकार से बहुत अपेक्षा करते हैं लेकिन लोगों को जीने के लिए खुद के लिए कैसा जीना वो बाद रखते हैं हम ये बहुत ज़रूर है नहीं तो इतना बड़ा मनुष्य समाज इस ढंग से एक दूसरे से जुड़े हुए भारत के कैसा जी पाए आज आज का सब देखते हैं तो, तो ये तो सत्संग वाला है दिव्यता है बहुत दिव्य है हम्म? अक्र अक्रम विज्ञान जो गुजराती में आज कितने साल छत्तीस साल के छत्तीस साल ऊपर हो गए हो गए बोलो हम्म। अभी हिंदी तो कितना अभी शाह साहब के समय में चालू हुआ मेरे ख्याल से बारह साल हो गई हाँ? 2012 में तीन साल हुए तो अभी सबको मिले ऐसा करना आपने लवाजम दिया है उसमें सभी बाकी में पैसा नहीं लगता फक्त अक्रम विज्ञान में पैसा लगता है क्योंकि हर महीने उसको छपवाना ये ते फिर भी बहुत कम लेते हैं उसका खर्च आता है उससे आधा लेते हैं बाकी तो सब महात्मा सब संभाल के निकाल देते हैं सब लोग ऐसा हो जाता है उसका पृष्ठ आता है उसमें ही कितना खर्च चला जाता है प्रिंटिंग के सब सभी खर्च उसमें ही लगता है वो आगे पहला तो हाँ ले ले भाई ना ये आपका लवाजम भिजवा देना इतना तो काम करना और पूरा पत्ता ठीक ढंग से मोबाइल फ़ोन अगर वो हो ईमेल हो सब साथ में भिजवा दो वो तारा भाई ताराचंद जी आपके वहाँ सब पढ़े लिखे सभी लोग हैं बड़े अच्छे हैं वहाँ तो सब इतना ऑर्गेनाइज हो जाओ ना हो जाएंगे अलोक आपका सहकार मिलेगा अलोक अलोक आपका सहकार को मिलेगा ना बस समझे ना सभी का लवाजम चले जाए और सही एड्रेस बहुत ज़रूर है एड्रेस सही नहीं हुआ था तो बहुत तकलीफ हो जाती है उसमें यहाँ तहाँ चला जाता है શું કહે છે नहीं आप अलग बात की आपने आपको निकालना है इसीलिए बात की क्या क्या बोलते सुपर उसका महीना क्या है इसीलिए आपको अंदर भावना है कि हम भी कर सकते हैं ऐसा वो छोड़ो ने उसमें से निकलो ने ये करवाने से छुटकारा दे दिया है फिर भी आप अहमदाबाद आके मिलिए उत्तम जी को साहब को सबको मिलना हाँ अब आते चलो भाई आपका आलोक अभी थोड़ा बोलना कम कर दो तो आपको बहुत मजा आएगी आपको अंदर आपकी कवि तो शक्ति खिलेगी आप समझे न जितना बोलते हैं इतनी शक्ति का व्यय होता है समझे ना तभी ये इतना तो रखना ही जरूर है अपने हित के लिए हाँ दूसरे का कोई नहीं भला होता अपना ही भला होता है उसमें और खुद का भला होता नहीं वहाँ तक हम दूसरे के भले से भले के लिए नहीं जी सकते हैं घर के अंदर खुद घर के अंदर बहुत समझने की बात है ऐसी आसान लगती है गहरी बात है लेकिन एक समय ऐसा है कि आसानी से ऐसी निकली है दादा भगवान से सभी के लिए और हमारे अनुभव में अब ऐसी है सही ढंग से तो अरे आप लोग क्यों आए आप बोलेंगे तो तो आपका बोलने दे उनको अच्छा चलो जा चलाओ जोर से बोलना है हाँ? सच्चिदानंद बोल के जय सच्चिदानंद बोलो जल्दी जब जीवन का अंत हो मेरे साथ पर्यंत हो महावीर का वह की आग में जलता जलता आया हूँ वासना पर अरिहंत हो महावीर का वह पंथ हो तन तो में जब तक श्वास है मन में एक विश्वास है मुक्ति की ही प्यास है पंडित मरण की आस है तन अचल और मन पावन हो मन पावन हो अब ना कोई द्वंद हो जब जीवन का अंत हो मेरे सामने मेरे दादा मेरे होठों पर अरिहंत हो महावीर का वह पंत हो दादा की ही प्रीत हो अकरम की ही जीत हो आगम का संगीत हो दादा नाम का गीत हो दादा के इस नंदन वन में हो दादा के इस नंदन वन में आज्ञा का बसंत हो जब जीवन का अंत हो मेरे सामने मेरे दादा हो मेरे होठों पर अरिहंत हो महावीर का वह पंथ हो जय सचिदान जय सचिदान क्यों तू क्या क्लास में है कौन सी क्लास सिक्स तेरा थर्ड में आऊँगा तो इतना अच्छा बोलता है अरे तू थर्ड में आएंगा टू सिक्स में ठीक है बड़ा अच्छा सबका नाम लिख लो उम्र लिख लो सब कुछ लिख लेना पुष्पा बहन आप आप जोधपुर की है तो कोई ख्याल नहीं रहती बच्चे को कब रखेगी अभी तेरे बच्चे तो सब उनका बच्चा खिलाने वाला हो गया <laughs> हाँ हाँ देखो तो वो पोता के पोते पोती अच्छी लगती है ना पर उसको ख्याल करना जोधपुर जाते जाओ उत्तम शाह ना बोलते होंगे <laughs> हाँ, हाँ। निमिष निमिषानंद जी उनको जरा लो अंदर हाँ गाओ और तो उत्तम शाह को भी बुलाओ अकेला ललित कैसा कितना काम करे हाँ ये तो उनका साथ सरकार है आपता पुत्रों का <laughs> चलती है अभी भी देखो अविरत दो साल में दो 2001 से हुआ है आज 16 भाई सोलहवा साल हो गया बोलो दो स, दो स, दो समय में और एक शिविर भी होती है कभी कभी युवाओं की कैसी नहीं साल में दो बोलो हुँ? हम्म। तो अभी छः बजने आए हैं हाँ? अब आप बोलो बोलो वहाँ बैठ के बोलो चलेगा खड़े खड़े बोलना वो जो चलता नहीं है भाई जय सचितानंद हाँ बोलो जय सचितानंद ओम दादा ओम दादा ओम दादा जपे सदा जपे सदा मुक्ति मिले चाहे फले ओम दादा ओम दादा जपे सदा जपे सदा चाहे फले मुक्ति मिल है नाम मंगलकारी विघ्नवादाहारी है नाम मंगलकारी विघ्नवादाकारी विघ्न वादाकारी इसने को नैया तारी ओम दादा ओम दादा जपे सदा जपे सदा चाहे फले मुक्ति मले है सायों का दादा नाम सहारा है सहारा है घोर अभा में करता दिव्य उजाला है उजाला है ओम ओम दादा पंग को पाड़ बनाता है बनाता है मुखमान जो को वाणी मिल जाता है मिल जाता है है नाम मंगलकारी विघ्न हारी विघ्न हारी इसने लाखों नैया तारी ओम दादा ओम दादा जपे सदा जपे सदा चाहे फले मुक्ति मिले खाते पीते सोते जगते जो ध्याता जो ध्याता खाते पीते सोते जगते जो ध्याता जो ध्याता सांस सांस में दादा दादा जो गाता जो गाता कठिन परिस्थिति में भी नहीं घबराता घबराता दादा नाम से आनंद पौरुष जग जाता जगदाता है नाम मंगलकारी विघ्न बाधारी विघ्न बाधा हारी इसने लाखों नैया तारी ओम दादा ओम दादा जपो सदा जपो सदा चाहे फले मुक्ति मिले चोर लुटेरों के भी हृदय बदल जाते बदल जाते चोर लुटेरों के भी हृदय बदल जाते बदल जाते छोड़ कुरुता ती करुणा अपनाते अपनाते सिंह सर्फ भी नहीं उपद्र कर पाते कर पाते यक्ष भूत राक्षस तन में हो गुण गाते गुण गाते है नाम मंगलहारी विघ्न बाधारी विघ्न बाधारी इसने लाखों नैया तारी ओम दादा ओम दादा जपो सदा जपो सदा चाहे फले मुक्ति मिले है नाम मंगलहारी विघ्न हारी विघ्न हारी इसने लाखों नैया तारी ओम दादा ओम दादा जपो सदा जपो सदा चाहे फले मुक्ति में जय सचिदानंद क्या आपका शुभ नाम रजनी रजनी रजनी बहन आपने अभी ये भक्ति का स्तवन हाँ। सुनाया वो एक बच्चा माँ के सामने किस ढंग से सुनाता है ऐसा उन्होंने किया इतनी उद्भाव उर्मी थी अंदर बड़ी अच्छी भक्ति है आलोक जी अभी अब जो भक्ति होती है हमसे इस ढंग से होती है हमें किसी को सुनानी नहीं है अंदर से आती ही जाती है आप समझे ना हमें अंदर के भगवान के साथ करते ही रहते हैं आलोक उसका अंदर का भगवान के साथ शुद्ध आत्मा के साथ समझे ना वो प्रज्ञा की जो स्थिति है वही शुद्धात्मा की स्थिति है समझे कि नहीं ऐसी बात है हाँ हम खुद खुद के साथ अभी करते रहे तो आपो आप बाहर निकलता जाएगा वो समझे ना हम्म। चलो अभी छः बजे हैं नमो गाय चलो मंदिर નમો અરિયંતાણમ નમો અરિયંતા નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણ નમો આય રિયાણમ નમો આય રિયાણ નમો વજ્જાયાણમ નમો વજ્જાયાણ નમો લોય સવ સાવણમ નમો લોય સવ સાવણ એસો પંચ નમુકારો એસો પંચન મુકારો સવ પાવપણાસણો સવ પાવપણાસણો મંગલાણમ ચ સવેસીમ મંગલાણમ ચ સવેસી પરમમ હવ हवै मंगलम परमम हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नम शिवाय ओम नम शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद छोटी सी हम हमारे लिए आज्ञा धर्म में अभी हमारा जीवन सही ढंग से जाए इस ढंग से ले जो हमें जिनका खूब फायदा मिला है और वैसा अपने साथ अनुभव में वो जुटा गया है ऐसी प्रार्थना बुला लेते हैं सबके लिए हर एक जन अपने अपने ढंग से उसको अपनी ढंग से बना दे समझे बुलावे हाँ तो आंखों बंद कर दो और पूरा मैं शुद्धात्मा हूँ उपयोग के साथ बोलना आंखों बंद करो सभी हे आंखों बंद करके बोलना रजनी जी सब आंखों बंद कर दो हाँ, ध्यान से હે અંતર્યામી દાદા ભગવાન વિતરાગ પરમાત્મા હે અંતર્યામી દાદા ભગવાન વિતરાગ પરમાત્મા હે અંતર્યામી શ્રી સિમંદર સ્વામી અરિહંત વિતરાગ પરમાત્મા હે અંતર્યામી શ્રી સિમંદર સ્વામી અરિહંત પરમાત્મા હે અંતર્યામી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન નારાયણ સ્વરૂપ પરમાત્મા હે અંતર્યામી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન નારાયણ સ્વરૂપ પરમાત્મા परमात्मा हे अंतर्यामी श्री शिव परम कल्याण स्वरूप परमात्मा हे अंतर्यामी श्री शिव परम कल्याण स्वरूप परमात्मा आप हर एक जीव मात्र के अंदर आप हर एक जीव मात्र के अंदर जो तत्व गुण अवस्था से बिराजेल है जो तत्व गुण अवस्था से बिराजेल है जो द्रव्य गुण अवस्था से बिराजेल है जो द्रव्य गुण अवस्था से बिराजेल है वही द्रव्य गुण अवस्था से वही द्रव्य गुण गुण अवस्था से आप आप मेरे अंदर मेरे अंदर द्रव्य गुण अवस्था से द्रव्य गुण अवस्था से प्रकट शुद्धात्मा स्वरूप से विराजेल है प्रकट शुद्धात्मा स्वरूप से विराजेल है आपका वितराग परमात्मा स्वरूप वही मेरा स्वरूप है आपका वितराग परमात्मा स्वरूप वही मेरा स्वरूप है मेरा स्वरूप मेरा स्वरूप तत्व गुण अवस्था से तत्व गुण अवस्था से स्वद्रव्य स्वद्रव्य स्वद्रव्य के गुणों स्वद्रव्य के गुणों और स्वद्रव्य के गुणों की अवस्थाओं से विराजिल है स्वद्रव्य के गुणों की अवस्था से विराजिल है ऐसा ऐसा प्रकट शुद्धात्मा स्वरूप है प्रकट शुद्धात्मा स्वरूप है हे प्रकट शुद्धात्मा भगवान हे प्रकट शुद्धात्मा भगवान मैं आज्ञाधारी मैं आज्ञाधारी आपको आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार नमस्कार करता हूँ अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ प्रमादवश प्रमादवश गलती से गलती से हमें हमें जाने अनजाने में जाने अनजाने में आज्ञा धर्म के जीवन में आज्ञा धर्म के जीवन में जो जो भूले हुई है जो जो भूले हुई है वो सभी भूलों को उन सभी भूलों को हम आपके समक्ष रखते हैं हम आपके समक्ष रखते हैं उनके लिए हृदय से खूब पस्त पछतावा करते हैं उनके लिए हृदय से खूब पछतावा करते हैं और और हम आपके पास क्षमा याचना मांगते हैं हम आपके पास क्षमा याचना मांगते हे प्रगट शुद्धात्मा प्रभु हे प्रगट शुद्धात्मा प्रभु आप आप मुझे आज्ञाधारी को मुझे आज्ञाधारी को क्षमा करे क्षमा करे क्षमा करे क्षमा करे क्षमा करे क्षमा करे और फिर से और फिर से मैं ऐसी मैं ऐसी आज्ञा धर्म के जीवन में आज्ञा धर्म के जीवन में भूलो न करो भूलो न करो ऐसी आप हमें शक्ति प्रदान करो ऐसी आप हमें शक्ति प्रदान करें हे प्रगट शुद्धात्मा भगवान हे प्रगट शुद्धात्मा भगवान आप ये आज्ञाधारी पर ऐसी कृपा करो आप आप ये आज्ञाधारी पर इतनी कृपा करो जिससे शिव से उनके उनके व्यवहार दृष्टि की आज्ञा से व्यवहार दृष्टि की आज्ञा से निश्चय दृष्टि के साथ निश्चय दृष्टि के साथ व्यवहार दृष्टि में व्यवहार दृष्टि में जो जो भेदभाव है जो जो भेदभाव है वो सभी नष्ट हो जावे वो सभी नष्ट हो जाए और और आपके साथ आपके साथ अभेद दृष्टि से अभेद दृष्टि से तन्मय आकार रहे तन्मय आकार रहे जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद यही तो मेरा सत्स्वरूप है ये असत शरीर में जिसको सत माना था हुँ? हम्म? तो हमेशा अंदर से हमारा सत्संग बना ही रहता है कायम का चलो दादा भगवान दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દા असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जय दादा भगवान दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा रहो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भग असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार का भगवान ना असीम जय जयकार दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो ओ दादा भगवान ना सिंह जय जयकार हो दादा भगवान ना દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના સિમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના સિમ જય જય દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના असीम जय जयकार हो दादा भगवाना असीम जय जयकार हो दादा भगवाना असीम जय जयकार हो दादा भगवाना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના असीम जय जयकार हो दादा भगवान असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार હો દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો હો દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद